अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु से दरगुजर फरमाया आपने उन मुनाफिकीन को क्यों इजाजत दी यहां तक कि आप पर वो लोग जाहिर हो जाते जिन्होंने सच कहा और आप झूठों को जान लेते